โอ้ कृष्ण द्विवेदीय काठकोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय बंदी अष्टम मंत्र का कुछ विचार हो गया है फिर अष्टम मंत्र के अंतिम में जो कहा था अन्य अतर्कम अनुप्रमाण कहा अतर्कम कहा था उसी को बीज बना करके ये नवम मंत्र आरंभ करते हैं अतर्क है तर्क के द्वारा हटाने नहीं है ऐसा मंत्र है नैषा तर्केण मतिरापनेया हमने एक तरफ आत्मज्ञान के बदले में इतनी बड़ी बड़ी चीजें रख दी थी किंतु तो तुमने नहीं लिया तुम आत्मज्ञान चाहते हो ये जो मति है तुम्हारी मति अच्छी मति है बुद्धि ऐसा मति तर्केण न आत्मेरा ऐसा ये जो बुद्धि तुम्हारे पास है आत्मज्ञान ही चाहिए विषय नहीं चाहिए ऐसी बुद्धि है तो बुद्धि सुस्त तर्क के द्वारा हटाने योग्य नहीं है इसको हटाना नहीं चाहिए तो बुद्धि को बनाए रखना चाहिए प्रोक्ता अनन्य नहीं सूर्याना प्रश्न अनन्य नहीं प्रोक्ता अनन्य भाव में आत्मभाव में पहुंचे हुए जो महापुरुष होंगे उन्होंने द्वारा कही गई जो आत्मबुद्धि है बुद्धि प्रोक्ता बुद्धि जो कही गई बुद्धि आत्मबुद्धि आत्मज्ञान आय सुस्थ ज्ञान आय बहुत ही अच्छे ज्ञान के लिए होगा यानी अपरोक्ष ज्ञान के लिए यदि उस आत्मा से अभिन्न भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के द्वारा उपदेश प्राप्त करें तो ठीक ठीक ज्ञान हो हे श्रेष्ठ या संबोधन का हे प्रियतम अतिशय प्रिय श्रेष्ठ ऐसा है प्रिय शब्द से अतिशाय तमविष्ठमो सूत्र है इष्टम प्रत्यय लगाया सभी में प्रिय को प्रियतम कहा जाएगा दो में से किसी को प्रिय हो तो प्रियतर या प्रियाम या प्रेयाम बोला जाएगा तो यहां प्रेष्ठ बनाने के लिए प्रिय शब्द से इष्टम प्रत्यय होगा है तो प्रिय से जब इष्टम होगा तो प्रिय के स्थान में प्र आदेश होता है प्रिय स्थिर फिर बहुल पुत्र वृंदार का नाम प्रस्तस्व बर्वरी भी गर्भ से त्रप्राग वृंदा ऐसा सूत्र जाता है प्रिय को प्र आदेश होता है इष्टम आदि प्रत्यय पड़े जाते हैं इष्टम हो यमनी हो यशम हो जिनमें होता है और प्रेमना प्रेमना बन जाता है प्रेमा अत्यंत प्रिय प्रिय के धर्म को प्रेमा बोला जाएगा प्रेमा भक्ति आदि बोलते हैं तो प्रेष्ठ अतिशय प्रिय है इसलिए प्रेष्ठ हे प्रेष्ठ हे प्रियतम जाता है सामान्य प्रिय नहीं सबसे प्रिय कुछ श्रेष्ठ बोला जाता है याम कौन आप जिस बुद्धि को तुमने याम बुद्धिम आत्मवती कौन आप जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया अगर आपूर्ति तुम्हारे पास न होती तो इतने बड़े प्रलोभन में प्रलोभित हो जाना श्लोक का भोग प्रलोभ का भोग सब रख दिया कि आत्मा चाहने वालों के लिए कसौटी है अगर भोगों में लिप्त हो गया तो आप ज्ञान वाला है कसौटी है अगर भोगों में लिप्त नहीं है तो आप नजीके का उदाहरण है वो तो भोगों में लिप्त नहीं उस आत्मज्ञान का उपदेश होगा याम को हम आप सत्य पता है जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया ऐसा मतिर न तर्के अपने इस बुद्धि को तर्क शुष्क तर्क द्वारा होना नहीं चाहिए तो ये अद्वैत बुद्धि है जो तुम चाह रहे हो अद्वैत बुद्धि है ये जो तर्क के द्वारा द्वैत सिद्ध कर देते हैं उसके द्वारा कौन काशी जो पूछे ने जीवा ईश्वरा भिन्ना ऐसे बोले क्या बोले जीवा ईश्वरा भिन्न भिन्न लक्षण वो वैष्णव अतः विरुद्ध प्रांत आक्रांत धर्म विरुद्ध आक्रांत धर्म है ये सर्वशक्तिमान है अल्पशक्तिमान है कहां से होगा ये ये सोच कर हैं उनके पास कोई शास्त्र पीछे नहीं है अपनी बुद्धि से चलते हैं तो इसलिए ये सामती जो अद्वैत बुद्धि तुम्हारे पास आई हुई है कहता है यह तर्क के द्वारा शुष्क तर्क के द्वारा होने के नहीं सत्य धैर्य सत्य धैर्य वाले हो सत्य धृतिर असी सत्या धृतिर यशमिन नचिकेत से यशमिन नचिकेत ईशा नचिकेता सत्य धृति तुम सत्य धैर्य वाले हो बहुत सारे प्रलोभन दिया तुम धैर्य को नहीं खोया तुमने बनावटी धैर्य तुम्हारे पास में सत्य धैर्य वाले हो यह अनुकंपा में कहा गया दया करुणा यमराज प्रसन्न होकर करुणा से कहते धन्य हो तुम्हारे जैसे व्यक्ति वक्र अव्यय होता है अनुभव का अर्थ होता है बता बता दया अथवा तरुआ और करुणा से द्रवीभूत होकर के शिष्य के लिए कह रहे हम सत्य रहने वाले हो स्वादिनो भूया नजगेता प्रश्न ये नजगेता मेरे लिए हमारे लिए प्रश्न करने वाले शिष्य हो चाहे पुत्र हो कोई आए तो तुम्हारे समान हो स्वादिक तुम्हारे समान हो ऐसे हम चाहते हैं किंतु अभी तक कोई मिले ही नहीं ऐसे सब बहुत चाहने वाले मिले तुम जैसे आए थे हमारे पास तो हमें खुशी होगी ऐसा कहा टिप्पण यह एक नंबर की नई मंत्र के ऊपर तर्कवताम तर्कावस्तंभम शिथिलायुम अतर्क्यम उक्तवा उक्तवा उक्वा भी अपुष्यन प्रदान कहते तर्क वाले जो जितने लोग हैं तार्किक जितने भी हैं सब तार्किक में आते हैं विराम भी छोड़ करके बाद ये जितने सब तार्किक हैं तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं उस आत्मा को तर्कवताम जो बुद्धि का विषय नहीं है उसको बुद्धि से सिद्ध करना चाहते हैं सीधी बात यह है तर्क से सिद्ध करना है अपने बुद्धि का वैभव दिखाना है और आत्मा बुद्धि का विषय यन मनसा न होते या ना हो मनोभता आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है बुद्धि को जानने वाला है बुद्धि क्या कर, काम करती कि नहीं करती जानता है आत्मा जानता है बोलते हैं लोग आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या भांति कर बोल रहा है आज मेरी बुद्धि काम नहीं मेरी बुद्धि किसकी बुद्धि काम नहीं कर कौन बोल रहा है आत्मा बोल रहा है आत्मा बुद्धि को जानता है बुद्धि आत्मा नहीं जान सकती बुद्धि का विषय नहीं तर्क वतान जो तर्क वाले जितने भी हैं तर्को अस्थिति तर्कवत केशाम तर्क बताओ सष्टम में तर्क वालों का तार्किकों का तर्कावस्थम तर्क में जो तो विश्वास है हम जो बोलेंगे वो हमारी बुद्धि जो बोलेगी वो सही है तर्क में विश्वास है अवस्तम विश्वास है विस्तंभ तर्क प्रधान तर्कावस्तम शिथिला तो उसको शिथिल करवाना चाहे करने की इच्छा है मंत्र इसलिए बोलना चाहते हैं शिथिलाई तो उनके तर्क में जो विश्वास है उसको शिथिल करने के लिए अतर्क्यम युवा भी पूर्व में अतर्क्यम बोल चुके हैं पूर्व मंत्र में फिर भी संतोष नहीं हो रहे हैं वहां उनको संतुष्टि नहीं हो रही है फिर बोलते आगे कहा अब उस समय फिर बोलते हैं पहले अतर्कम अनुप्रमाण करके बोल दिया फिर भी उनके जो तर्क में एक विश्वास है तो उस तर्क के विश्वास को खंडन करने की इच्छा शिथिल करने की इच्छा से फिर भी अतुष्टि और जब संतोष नहीं फिर बोलते हैं यमराज फिर कहना चाहते हैं एक आत्मरा नैसा तर्क है अच्छा ये जो आपने में जो एकार है कुछ होना नहीं चाहिए व्याकरण के सूत्र से नहीं हो सकता भाष्यकार अभी टिप्पणीकार बताएंगे आगे भाष्यकार आपने कहा था अनिया करेंगे अनियर प्रत्यय है अनियर को थोड़ी गुण होता है धातु तो हलंत है आप है प्रत्यय अनियर लगा हुआ है अनियर के एकार को एकार को एकार दिख रहा है ये अभी भाष्य तो पता लग जाएगा आपको ये कहते अब हो कि तर्क के सहारे से नहीं अन्य ही अतर्क्यम अनुप्रमाण प्रमाण था अतर्क्य होने से अपो का अतर्क्य आत्मा कर्तव्य विषय नहीं है इसलिए अनन्य प्रोक्त नहीं जो तो अनन्य भाव में पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनके द्वारा कहने पर इस आत्मा के विषय आत्मा में उत्पन्न या यम आत्मवृत्ति ये उत्पन्न हुए जो शास्त्रीय ज्ञान है आगम मान वेद दैविक ज्ञान है या यम आगम प्रतिपत्ति आगम संबंधी ज्ञान शास्त्र संबंधी जो ज्ञान हुआ है वो महापुरुष के द्वारा कहा गया जो ज्ञान है आगम आगम प्रतिपाद्य आत्मावती आगम के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मबुद्धि है किसके द्वारा कहा गया अनन्य प्रोक्त अनन्य भाव में से महापुरुष के द्वारा कहे गए जो ये जो आगम के द्वारा प्रतिपाद्य है श्रुति जिसको प्रतिपादन करती है ऐसा जो आत्मज्ञान है यह मती आत्मवती न ऐसा करके स्वबुद्धि अभिगम मात्र अपनेया में न प्राप्त इत्यर्थ ये जो बुद्धि ऐसी बुद्धि जो है ये बुद्धि को तर्क के द्वारा मैंने स्वबुद्धि अभिगम मात्र मात्र अपने बुद्धि की कल्पना मात्र से जैसा सोचे वैसे बोल देते मैं जो बोल रहा हूं ये अकाट्य होगा ऐसा समझ करके बोल रहा मैंने शास्त्र के सहारा नहीं लेना कोई श्रुतियों का सहारा नहीं अपनी बुद्धि को आगे करके चलना नैयायिक ऐसे होते हैं सब अपने बुद्धि से सिद्ध करेंगे बाहर में कभी देंगे हम वेद भी ऐसे बोलता है पीछे बोल बुद्धि को बहुत बड़ा भरोसा है तो ऐसी जो बुद्धि है शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य बुद्धि जो अनन्य भाव में पहुंची हुए महापुरुष के द्वारा कही गई जो आपको बुद्धि है बुद्धि इसको तर्क के द्वारा हटाने योग्य नहीं है तर्क का विषय नहीं है बुद्धि हटाने योग्य नहीं न आपने का अर्थ न प्रापणीय इत्यर्थ भाषिक आता है प्र लगा करके आपनीय जो अनेक प्रत्यय है न प्रापणीय इत्यर्थ एकार मंत्र में एकार है अनेर के इकार को किंतु इकार ही रहते हैं भाष्यकार इसी के टिप्पणी तुम बोलते हैं आपने यत्र वर्ण विकृति छांदसी इतिहास है जो तो आपनेया मंत्र में वर्ण की विकृति है इकार की जगह में तो हाँ, मतलब एकार हो रखा है तो छांदस वर्ण विकृति इकार होना था एकार हो रखा है अंधेर के इकार पर एकार हो रखा है मंत्र में यह छांदस वर्ण विकृति है आपनेया यत्र वर्ण विकृति जो वर्ण में विकृति आ रखी है होना चाहिए आपनीय सिद्ध हो रखा आपनेय मंत्र में ये छांद इति आशय व्याप्त से प्रापणीय इसलिए भाष्यकार ने व्याख्या कर दी इकारी दिखा रहे हैं न प्रापणीय तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है उसी का अर्थ और करते हैं भाष्य में न अपने तथ्या अथवा उसको न आपने नहीं अप उपसर्ग है वहां समझ नियम प्रावण्य धातु है ऐसा भी अर्थ कर सकता है आपने वो एकार है तो नियम प्रावण्य धातु से कर्तव्य प्रत्यय हो जाएगा इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं न अपने प्रत्यय न हमको आहत्या न अपने प्रत्यय न आहत्य त्यागने योग्य नहीं है तर्क के द्वारा या आगम के द्वारा प्रतिपाद्य जो बुद्धि है आत्मबुद्धि है और अन्य भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के द्वारा कही गई जो आत्मबुद्धि है यह तर्क के द्वारा हटाने त्यागने योग्य नहीं है तर्क के पीछे पड़ के इसमें खोना नहीं चाहिए ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है इधर न हाथ दिया तथा तो उत्तम खंडन भी खंडन खंड हाथी का अर्थ बताया है खंडन खंड स्थापित में बताया हुआ है क्या धीधना साधना यश्या तदा प्रज्ञाम प्रयच्छता क्षेत्र चिंता मई हस्त लब्धम अवधौ यदि चिंतामणि हस्तलब्धम अवधो शत्रु यदि यदि इच्छा था चिंतामणि जो सोचे वो कर दे पूरा कर देते चिंतामणि ऐसा एक मणि है जो चाहे जितना चाहे जब चाहे देने वाली है काम रेणु है चिंतामणि बड़े बड़े ये कल्प वृक्ष है जो चाहे जितना चाहे जब चाहे ऐसे देने वाले चिंतामणि सोचते ही रहना जो सोचो हो जाता निषेध मान जाए चिंतामणि हस्तलब्धम हाथ में प्राप्त जो चिंतामणि है अपनो क्षपुम क्षपुम यदि इच्छा था यदि समुद्र में डालने की इच्छा तुम्हारे मन में हो यदि इसको हाथ में प्राप्त जो चिंतामणि को समुद्र में फेंकने की इच्छा हो तब क्या करना कहते धी धना धीर धनम ये शांति धीरना बुद्धि ही धन है जिसका श्रुति धन नहीं है ये तो तार्किक लोग अपने बुद्धि में ही चलते धीर धनम ये शांति धीरना ये संबोधन है प्रथम बहुत संबोधन हे भी जहां हे तार्किक लोग ये तर्कशील लोग ये संबोधन है धीर हम बहुत समाज करना धीर धन यशा जिनके धन बुद्धि ही है आगे स्मृति आदि के विषय में नहीं चलते बुद्धि से जो सोचे हुए बोलना है धीर धमाना हे धीर हे तार्किकों धीर हाँ, बारणाय अश्या अश्या मति ही मते है इस मति को बांधने के लिए इस बुद्धि को जो अद्वैत बुद्धि बनी हुई है स्मृति के द्वारा इसको बाहर करने के लिए बाधना या तदा प्रज्ञान इसको बाहर करने के लिए द्वैत है करके सिद्ध करके बुद्धि को कब लगाना कब लगाना यदि हाथ में प्राप्त चिंता को समुद्र में फेंकने की इच्छा होती है अद्वैत बुद्धि बड़ी मुश्किल से होती है और इसको द्वैत बुद्धि के द्वारा खंडन करने के लिए तुम आते हो तो इसके लिए ये करना कि बाधना है कश्या बाधना है इसको बाधने की तुम्हारी जो इच्छा है बाध करने की अद्वैत नहीं द्वैत है जाने की इच्छा है इसको बाधने के लिए अश्या मैं बुद्धिया बुद्धे इस बुद्धि का आत्मबुद्धि का बाधनाय चतुर्थी है बाधन लाभ करने के लिए तारा परिणाम में चल तब अपने बुद्धि को लगा देना यदि हाथ में मिले हुए मणि को मिली हुई मणि को समुद्र में फेंकने की इच्छा रखते हो तब इस बुद्धि को हटाने के लिए कोशिश करना नहीं तो इसको बनाए रख लो तो खंडन का आपने ऐसे शिक्षा दिया स्त्री राशि ने तार्किकों के लिए खंडन का श्लोक है ऐसा कहा है आगे भाष्य तार्किको भी अनागमज्ञ तार्किक जितने भी आगमज्ञ नहीं है स्मृति को नहीं जानते वेद के जानते नहीं पढ़ते ही नहीं उनको बस अनुमान अनुमान अनुमान कर दिए तार्किक को ही अनागमक यहाँ तार्किक जो होता है क्या नहीं होता है न आगमज्ञ अनागमज्ञ क्या होता है आगम को नहीं जानता स्मृति को नहीं पता नहीं जानता तार्किक को ही अनागमक क्या स्वबुद्धि पढ़ के लिए तो हम कहते हैं हम बुद्धि में जैसे आ गया वैसे ही कल्पना करके बोल देता पीछे कोई प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं है सुखी है शास्त्र नहीं है कि इसलिए वो खंडित हो जाता है आपने जो कहा कल दूसरा खंडन कर देता है उसका बुद्धि में तो उसको है सबको होता है तार्किक को ही अनागमज्ञ तार्किक आगमज्ञ नहीं है स्मृति को मानता ही नहीं है स्मृति को जानता ही नहीं है स्वबुद्धि परिकल्पितम है एवं अपने बुद्धि के द्वारा परिकल्पित वस्तु को ही यथकिंचित जो सूझे वो बोल देता है वही कथन करता है ये कहा तीन नंबर की टिप्पणी माहू अपसत प्रसिद्ध तर्केण अनायोग्यता सूचना महाभूत अप्रसक्त निषेधा प्राप्त ही नहीं तो क्या निषेध करना ये कोई बोल सकता होगा तर्केण महायोग्यता तर्क के द्वारा निषेध क्या करते हैं मान की योग्यता है मैं त्यागने की योग्य है योग्यता उसमें है ये कहना चाह रहे इसलिए कहा था कि कोई क्या नहीं कहा अतएव भाषण में कहते अतएव याद आगम प्रसुतावती ये जो या यम ये जो बुद्धि है मति है आगम के द्वारा जन्य बुद्धि है तत्वशी आदि महाभारत के जन्य जो बुद्धि है आगम प्रसूता मति आगम से प्राप्त जो पशु पैदा होने वाली मति जब तत्वशी आदि समय तो अमरनाथ मति बनेगी ये आगम प्रसूत मति है ये मति अन्य अन्य नहीं आगम अभिज्ञान आचार्य तार्किता प्रवक्ता अन्य नहीं किसके तार्किता अन्य नहीं तार्किक से भिन्न आचार्य होना चाहिए इसके लिए की तो कहीं कहते हैं करते दिन का रात कर देगा रात का दिन कर देगा तो उसको कुछ भरोसा नहीं तो बुद्धि से कल्पना करता है रघुनाथ शिरोमणि जब जनकपुर में आते हैं पद्म मिथिला में आते हैं तो बाहर में इतने बड़े तार्किक हो गए वो नतीजाए के रहता हो गए तो उनका कहना था सभी विद्वानों को एक शर्त रख दिया था विदुषाम निभाई निभाई का दृष्टिया निभाई का मध्या यदकाम निरदुष्टम यज्ञ आज तक के विद्वानों के जो समुदाय का समुदाय जो होगा एक विद्वान नहीं आज तक जितने विद्वान हुए उनके समुदाय का भी जो समुदाय होगा उन्होंने सारे मिल करके जिस वस्तु को निर्दुष्ट कहा अथवा जिस वस्तु को दुष्ट कहा मई जल प्रतिकल्पना दिना थे मरुदाम अन्यथा ही वर्षा आता है मैंने आप उसको मई दलपति रघुनाथ है कल्पना दिनाथ है मनुदान कलन कल्पना करने में कुशल हूँ रघुनाथ मई जलपति रघुनाथ है कल्पना दिनाथ है मैं कल्पना दिनाथ हूँ रघुनाथ कल्पना के अधिनाथ हूँ जो चलो कल्पना कर सकता हूँ उसको अन्य मान लेना जिसको आपने विदुष्ट का सारे विद्वान में समझाया दुष्ट सिद्ध कर अपने बुद्धि के प्रभाव से और जिनको दुष्ट कहा मैं निर्दुष्ट सिद्ध कर दूंगा आए इतने उनमें भरोसा है ताकि अपने बुद्धि को ऊपर भरोसा है ताकि को ये कहा ये जो आगम जन्य बुद्धि है ये तो कैसा है अतः ये बता ये हम आगम प्रसुता बनी ये आगम के द्वारा पैदा होने वाली जो बुद्धि है तत्व से अभी महाभारत सुनने पर हम ब्रह्मास्त्र जो ज्ञान होना ये बुद्धि है ये ज्ञान है ये कैसा अन्य नहीं द्वारा तो आगमा न आचार्य तार्किका अन्य नहीं तार्किक से अन्य आचार्य होने चाहिए उसी के द्वारा कहने पर ये सुगम होगा तो बुद्धि बनेगी का तार्किक से नहीं कभी भी ये बुद्धि नहीं बने अहम ब्रह्मा भी होने चाहिए वो वो तो जीवा ईश्वर भिन्न विलक्षण धर्म भिन्न तत्व गो वैष्णव इत्यादि अनुमान करके भिन्न भिन्न सिद्ध करने लग जाए इसलिए अन्य नहीं हो अन्य होना चाहिए आचार्य किसी अन्य तार्किका अन्य नहीं हो कार्तिक से अन्य आचार्य के द्वारा ही आर्म अभिज्ञान कार्तिक से अन्य भी हो और आर्म का जानता भी हो श्रुति को जानता भी हो श्रुति के तात्पर्य समझता हो ऐसे आचार्य वहां प्रोक्ता सभी उस आचार्य के द्वारा कहने कहने पर ऐसे जो बुद्धि है मति है शुभ ज्ञान आय भगवती फिर वहां कोई संशय भी नहीं रहा संशय विपरीत ज्ञान कोई ज्ञान नहीं सुष्टु ज्ञान हो जाता है अच्छा ज्ञान है श्रेष्ठ है शुभ ज्ञान आय चार की टिप्पणी सम्यक लाभ है किया सम्यक लाभ के लिए होता है सम्यक प्राप्ति के लिए होगा वो बुद्धि ऐसी होगी अथवा मति मति उत्पादन में वाक्य ना या तो मति प्राप्त होगी या मति के उत्पादित वाक्य प्राप्त हो सप्तमसी तो आदि वाक्य प्राप्त हो तो मुझे कहीं योग होगा एक तो ये प्रश्न हमें प्रियतमा कहा गया है गुणा सा प्रकार में मति यहां प्रश्न चिन्ह होना चाहिए वो कौन है वो तर्क से अगम्य बुद्धि क्या है तर्क से द्वारा प्राप्त न होने वाली बुद्धि क्या है कि उच्चते इसका उत्तर दिया जाता है तर्क से जो प्राप्त नहीं होती है शुष्क तो तर्क बुद्धि क्या है तथा ज्ञान तो मत प्रधान है न प्राप्त जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया था मेरे वरदान के प्रभाव से प्राप्त किया ज्ञान तुम मतिम ज्ञान मतिम तुम मत प्रधान है ना मैं मेरे वरदान के द्वारा आप हमने प्राप्त सी प्राप्त किया है तुमने तो कहा आगे बोलते हैं सत्य धृत्य प्रकाशी तुम तो सत्य धैर्य वाले हो धैर्य को नहीं छोड़ा प्रलोभित नहीं हुए इतने सारे वस्तु रखने पर भी कहा सत्या मैंने अवितथा अवितथ विषया धृतिर सत्या धृतिर यश्य सत्य धृति सत्य है धैर्य दृष्टि क्या है अभिधत विषय जो वस्तु जैसा है उसी को विषय करने वाले को अभिधत विषय कहते हैं वस्तु तो कुछ और हो और कुछ हो तो विदर्भ बोलेंगे अवितर्क विषय है जिस बुद्धि की मैंने सत्य ये, ये सत्य है धैर्य द्वारा माने सत्य माने अविधत है विषय जिसकी बुद्धि की ऐसी बुद्धि को सत्य धृति का ये धृति को सत्य दृति का सत्या में अविधत विषया धृति यश्य भी समास है सत्या धृति यश्य सत्या का आपने कर दिया अविधत विषय अविधत जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार लिया लेने वाली जो वृत्ति है चाहिए है उसको सत्य कहा अब सब तुम सत्य थे तो तुम सत्य वृत्ति हो जाते हो कहा सत्य विषय वाला हो तुम बता अशी बतासी अनुपम कर बता जो होता है अनुकंपा तो में होता है अध्यय है अशी तो क्रिया मत है तुम सत्य धैर्य वाले हो बता अनुकंपा में होता है मृत्यु आहा मृत्यु नचिकेतम भक्षवान विज्ञान मृत्यु ऐसा कहते हैं क्यों नचिकेता को कहा तुम सत्य धैर्य वाले तो कहा आज विज्ञान भक्ष्यमान है अभी ज्ञान को अभ्यस नहीं हुआ अभी तो शिष्य की प्रशंसा वैराग्य की प्रशंसा ये चल रहा और अज्ञानियों की निंदा ऐसे प्रसंग ही चल रहा है तो भक्ष्यमान जो आगे कहे जाने वाला विज्ञान है जो आत्मज्ञान आगे बताएंगे काफी कठोर उसकी प्रशंसा के लिए ये सत्य थे बतासी थी अनुपम्बा कड़वा करके कहा आगे बोलते हैं द्वादश पर तत्पुल्यो नो अस्मभ्य भूया हमारे लिए तुम्हारे समान हो कोई पूछने वाला व्यक्ति बोलना स्वाधीन चाह द्वादश नदी के तरफ स्पष्टाई कहा द्वादश तत्पुल्यो नो है अस्मभ्यम चतुर्थी के बहुवचन है नश आदेश हुआ है हमारे लिए भूया तुम्हारे समान हो भूया का तो लिंगा लिंग से अर्थ कर दिया भूयात्मा का बहुत अन्य शिष्य पुत्र शिष्य होगा विदुर्लिंग का प्रयोग नहीं किया आश्रिलिंग है प्रार्थना कर रहे आशीर्वाद मांग रहे हो प्रार्थना है हमारे तुम्हारे जैसे शिष्य हम ये चाहते हैं या आश्रिलिंग का प्रयोग किया इसलिए भगवत वगैरह के लोट से उसका करते विषय वो दूसरा बता दिया भूया भगवत अन्य पुत्र शिष्य होगा मैं तुम्हारे कुछ छोड़कर अन्य कोई पुत्र हो चाहे शिष्य हो अगर ये अध्यात्म विषय में पूछने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति का तो आगे भविष्य के लिए प्रश्न केंद्रित कैसे होना चाहिए तथा यादृक यदि प्रश्न जैसे तुम यदि प्रश्न कर रहे हो प्रश्न करते हो उसी प्रकार के हो आगे कोई आए हमारे सामने जैसे आए बाकी सारे आप तक देखता आए विषय से आने वाले आए आत्मज्ञान से आने वाला कोई नहीं आया ये कहा था टिप्पणी पांच नंबर की जो है पांच द्वितीय नान्यम तस्मात धनिकेता इत्यादि ना सूचिता तृतीय धैर्य नान्यम ये तस्मा नान्यम तस्मा नदिकता प्रणीति नदिकता ने सब हो दिया था हमें उस बदलाव को छोड़ करके दूसरे बदलाव नहीं चाहिए दूसरे कोई चीज नहीं चाहिए हम स्वीकार नहीं है ऐसा कहा यही धैर्य है तुम्हारे पास और कितने बड़े संपदा देने के पर भी उथल पुथल तुम नहीं किए तुम्हारे पास धैर्य है कहा नान्यम तस्मात निर्गेटा गणित सौधा इत्यादि के द्वारा सूचित जो धृति है धैर्य है धृति मान धैर्य ऐसा धैर्य है कहा सत्य धैर्य तुम्हारे पास कहा बल छह नंबर का निपात जब भी है पता निपात है अनुकंपा जो कहती अनुकंपा को ही दिखाता है अनुकंपा है दया अथवा करुणा को अनुकंपा कहते हैं दया या करुणा यथा अभाव अमरकोश का आपने कहा भी इसको क्या कहा कहते हैं खेरा खेदानुकंपा संतोष विस्मया मंत्र बट शब्द इतने आत्म प्रयोग होता है खेत दुखी होने के लिए होता है बता हमें दिक्कत है तुम्हारे ऐसे भी होता है समझता अनुसार दुख के लिए होगा अनुकंपा के लिए होता है संतोष के लिए होता है विस्मय के लिए होता है आमंत्रण के लिए भी होता है इत्यादि कहा अंतकोष्ठा ने कहा क्या संतोष है यमराज को संतोष है इसलिए पता करके बोलता है अच्छा ठीक है बताएंगे आगे मानता है साफ विज्ञान सुधाई त्वादिश सत्य धृति काम अधिकार होगी तुम्हारे जैसे सत्य धैर्य वाला व्यक्ति उस विद्या को अधिकार विषय काम विद्या ब्रह्म विद्या अधिकरण से अधिकार होता है अधिकारी होता है नए कार्य तो जो प्रकृति में कहने वाला विषय चाहने वाला ब्रह्म विद्या के अधिकारी आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं होता एक कहा इतने शिष्य गुण विद्या विद्या शिष्य के गुण के कथन के द्वारा ज्ञान की प्रशंसा हो जाती शिष्य के गुण की यहाँ कथन किया है कि प्रशंसा ज्ञान की है आगे ठीक है मैं जानता हुई अभ्यासम कर्म कर्मफलम मतलब मैंने जानते हुए भी मैं जानता था कर्म का फल क्या है आत्मज्ञान का फल क्या है मुझे पूरा पता था नया ज्ञान अपनी जानते हुए भी बहु आयासम कर्म बहुत बहु आया बहवो आयास हो कर्म कर्मणी तब कर्म बहुव्यासम बहुत परिश्रम होता है जिस कर्म करने के लिए कोई भी वैदिक कर्म करना हो सामान्य थोड़ी तो ऐसे कर्म थोड़ी होता है यज्ञ मंडप बनाना ये करना वो करना कितने सामग्री चाहिए क्या क्या करना पड़ेगा कितने ब्राह्मण रखना होगा क्या कब परिश्रम उसमें मैं अज्ञात आदमी मैं जानता हुआ भी मैं या जानता भी जानता हुआ भी बहुत आयास वाला कर्म किया बहुत परिश्रम वाला कर्म किया ज्ञान की तरफ नहीं गया तो हम जानता था दोनों जानता भी बहुत आयासम कर्म कर्म ऐसा किया तो हम का अभी तो हम न करना चाहिए और तुम में मैं कर्म करने को नहीं बोल रहा हूं सीधा फल देने जा रहा हूं कर्म का फल क्या होता है लौकिक फल अथवा पारलौकिक फल दोनों देने को मैं तैयार हूं फिर भी तुम ग्रहण नहीं करते हो ये बोलना रहे तो तुम ग्रहण किए कौन हूं अभी तुम तो देने पर भी दिया जा रहा है फल कर्म करने को कहा ही नहीं केवल सीधा फल दिया जा रहा है फिर भी न क्रीड़ासी तुम ग्रहण नहीं करते हो नतीजा मत को अधिक प्रज्ञासी मेरे से ज्यादा बुद्धिमान तुम तो हो ये बोलना चाहते हैं मेरा शिष्य को संतोष स्वरूपी ऐसे संतोष है उनके मन में इसलिए फिर प्रशंसा करते हैं नदी के इत्यादि कहना चाहते हैं पुनर्विष्ट भाषण का फिर भी संतुष्ट होकर के पूर्व मंत्र में संतोष हो गया था फिर और संतोष होकर के और आगे करते हैं बराबर कहा पुनरअपी एक पुनरवि पुष्ट आयती आया ये जो कथन हो गया है पुनरवि पुष्ट आय कथन के द्वारा पूर्वोक्ता पूर्वोक्त अनुभव का कोषा निकालेगा पूर्वोक्त अनुभव का भी कोष स्वरूप ही है संतोष स्वरूप ही है दया स्वरूप नहीं है संतोष से कहा है वहां बता सब पूर्वोक्त अंजलि देखिए सूचित होता है अनुकंपा हुआ दीन विषय अनुकंपा तो दीन को विषय करेगा दीन नहीं है नैतिकता दीन नहीं है जानानी अहम सेवधीर इति अनित्यम हम कर्म कर्मफल को सेवधि बोलते हैं कर्म फल जानामी मैंने अज्ञाशिषम ऐसा अर्थ टिप्पणी कार्ड करेंगे जानामी ने बोला जानता था ऐसा अर्थ आएगा क्योंकि पेड़ है काल का कोई नियम नहीं होता है लोगों के जगह पर लग का प्रयोग कर दिया गया क्यों मैं जानता था फिर भी कर्म किया बोलना है यानी जानता हूं कर्म किया होता ही नहीं जानामी हम मैं जानता था हाँ, यह आता है लुम लगा था अज्ञान से समय से अर्थ होना चाहिए ऐसे पिपर का बताया गया जाना हम ही शेर ही कर्म फलम अनित्यम यदि अनित्यम कर्म का फल अनित्य होता है मैं जानता था नहीं अध्रुव ही प्राप्त थे ही भ्रमण था अध्रुव कर्म के द्वारा अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य तो आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है मैं जानता था कर्म का फल अनित्य होता है और अनित्य कर्म कर्म अनित्य है जब पूर्णावृति हो गई तो कर्म समाप्त तो हो गया कहा अनित्य है कर्म कर्म नित्य है अनित्य है तो ऐसे जो कर्म है उसके द्वारा नित्य जो फल है मोक्ष जो फल आत्म प्राप्ति फल वो मिलना संभव नहीं है मैं जानता था इस बात फिर भी तथो तस्मात अधिकार फिर भी तथा भी यह अर्थ तो होगा इसका फिर भी नया नचिकेत फिर भी मैंने नाचिकला अर्थ का चयन किया उस गर्भ तो प्राप्ति की इच्छा हो रही होगी तो फिर भी कुछ विषय की इच्छा नहीं होगी तब वो तथापि अब होगा मैं मैंने जानता था कि कर्म का पर अनित्य होता है और अनित्य वस्तु के द्वारा नित्य वस्तु मिलना नहीं मिलता ये भी मुझे मालूम था फिर भी मैं नचिकेता से होगी नचिकेता नाम की जो अग्नि है वो अग्नि का चयन किया स्वर्गीय यज्ञ यज्ञाधिकर्म किया अग्नि अनित्य ही द्रव्य अग्नि का चयन किसी और अनित्य द्रव्य के साथ जो भी साधन सामग्री थे अनित्य थे उसके द्वारा किया प्राप्तवान अष्टनित्य फिर मैंने क्या किया जो नित्य मैंने अपेक्षित नित्य यम्य पद को प्राप्त किया मैंने हमारे यहाँ की अपेक्षा थोड़ी जा ज्यादा है इसलिए नित्य कहा वास्तव में अनित्य के द्वारा नित्य तो होता ही नहीं अपेक्षित नित्य पद प्राप्त किया ये कहा भाष्य है जानामी हम सेवरी निधि सेवरी माने निधि खजाना कर्म का फल को खजाना का निधि है कर्म फल लक्षण निधि प्राप्त थी तो कहते हैं जानामी हम मैं जानता हूं सेवरी माने निधि सेवरी का अर्थ मतलब निधि निधि को जानता हूं निधि कर्म फल लक्षण निधि प्राप्त देती हूँ कर्म फल रूपी है निधि के समान जो प्रार्थना करते हैं जैसे सोने चांदी का खजाना कोई चाहता है उसी प्रकार स्वर्ग आदि के लिए मर रहे प्रार्थना होती है मिल जाए मिल जाए मिल जाए इधम में भूया उधम में भूजा ऐसी इच्छा होती है हाँ, प्रकृष्ट अर्थे अर्थते प्रार्थना विशेष रूप से प्रार्थना किया जाता है अर्थ अर्थ चाहता है इसको प्रार्थना आदि होते प्रार्थते होता है निधि के समान है वो खजाने के समान होते हैं खजाना मिल जाए मिल जाए जैसी इच्छा होती है उसी प्रकार से आदि मिल जाए सुना हुआ है शास्त्रों में या ऐसे ऐसे भोग मिलता है सुना हुआ है उसे लाभाहित है तो मैं जानता था यह बताएगा ये कहना चाहेंगे टिप्पणी जो भी टिप्पणी है ना जाना भी जाना भी का ऐतिहासिक अज्ञासम इतिहास टिप्पणी का है क्योंकि मैं जानता था अर्थ निकालना है न कि मैं जानता हूं या अर्थ तो वर्तमान अर्थ नहीं निकलेगा मैं जानते हुए भी मैंने फिर यही कर्म किया कहना चाहता हूं अज्ञा से समिति ये कहा या मैं जानता था ऐसा करना ये कहा असरो अनित्यम अनित्य ही जाना नहीं ये जो कर्मफल होता है असरो कर्मफल फलम अनित्यम अनित्य ही जाना नहीं अनित्यम शब्द दिया हुआ है किंतु पुलिंग में चलता है अनित्य स्वर्गादि अनित्य है ऐसा अनित्य करके पुलिंग में प्रयोग करता था ये जानना नहीं तीन नंबर टिप्पणी क्या होता से संभव होता दो नंबर टिप्पणी रह गया तीन पर दिया अच्छा शेवधि रह गया शेवधि जरा हमारा अमरकोश का आप कहते हैं शेवधि के बारे में निदेरना शेवधि देरा पद्म संघात जो विधे इत्यादि कहा है निधीर निधि शब्द पुलिंग में चलता है जितने भी धार धातु से होने वाले की प्रत्यय करके होने वाले पुलिंग में उपसर्ग घो की लग करके जो की प्रत्यांत शब्द होते हैं पुलिंग होते हैं संभी आदि शब्द हिंदी में तो स्त्रीलिंग है वहां पुलिंग है संस्कृत संभी व्याधि जो भी हो संस्कृत पुलिंग होते हैं की प्रत्यांग निविड़ ना निधि शब्द नाम में पुलिंग में चलता है शेवधी भेदा शेवधी के भेद है शेवधि के पर्याय वाचक है निधि शेवधि बोलो चाहे निधि बोलो बात एक है कर्म संग्राम थे और पर्व संग्राम को भी निधि शब्द से कहा जाता है जो सामूल्य वस्तु है उनको भी निधि शब्द से कहा जाता है समृद्ध कहा जाता आगे भाषण में कहते हैं मैं जानता था कर्म का फल अनित्य होता है क्यों नहीं यस्मात ही मान यस्मात नहीं अनित्य अधुरैव नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्त थे ये मैं जानता था अनित्य वस्तु के द्वारा जो नित्य है ध्रुव पद है आत्मपद मोक्ष स्वरूप अपने स्वरूप स्थित होना रूपी पर प्राप्त नहीं होता न प्राप्त थी मैं जानता था मुझे ख्याल था अनित्य द्रव्यों के साधन से नित्य द्रव्य प्राप्त होने वाला नहीं मुझे पता था कौन है वो नित्य कहते परमात्मा के सेवरी परमात्मा रूपी फल सेवरी का तो फल है हाँ। वो प्राप्त होने वाला नहीं है अनित्य द्रव्य के द्वारा कोई यज्ञानी के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है आत्मा वो तो ज्ञान से प्राप्त होगा मैं जानता था यस्तु अनित्य सुखात्म सेवती जो अनित्य सुखरूप सेवती है स्वर्ग आदि फल है जो अनित्य सुखरूप है ये ऐसा सेवती सदैव अनित्य द्रव्य प्राप्त है वही वही होगा जो स्वर्ग आदि सुखरूप फल अनित्य द्रव्य यज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त होता है मैं जानता था इस बात को ही माने यथा जिससे कि तथा तस्मात मैं जानता भी मैंने जानते हुए भी पता था मुझे आत्मा मिलने वाला नहीं है यज्ञ के द्वारा मुझे पता था स्वर्ग आदि मिलेंगे आपका सुख नहीं मिलेगा स्वर्ग सुख मिलेगा माल था फिर भी जानता अभी नित्यम नित्य को मैं जानता था आपका सुख के बारे में मुझे जानकारी थी पढ़ा लिखा था ऐसा नहीं था समझता था जानते हुए ही क्यों जानते हुए क्यों किया विषय की लोलुपता रहे यही एक वैराग्य पूर्ण नहीं था यही कहना चाहते नित्यम जानता भी अनित्य साधन प्राप्त थे नित्यम अनित्य साधन न प्राप्त थे जानता नित्य वस्तु अनित्य साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता ये जानते हुए भी फिर भी नचिकेता स्थित हो गई फिर भी मैंने वही स्वर्ग संबंधी साधन को बना तो चयन कर लिया नचिकेता होती तो मैंने चयन कर लिया मैंने यज्ञ कर लिया मैंने कर लिया नचिकेता स्थित हो अनित्य द्रव्य और साधन क्या थे हमारे पास उसके लिए अनित्य द्रव्य थे सब चाहे पशु हो जो भी हो उसके द्रव्य जितने भी थे यज्ञ सामग्री जो भी थे सब अनित्य द्रव्य थे पशु आदि भी अनित तत्व जो पशु आदि के द्वारा मैंने वो देश आदमी का चयन किया यज्ञ किया स्वर्ग सुख साधन हो तो अग्नि निर्भर पिता ही है स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप जो अग्नि है साधन रूप अग्नि को मैंने संपादन किया जानते हो ऐसा हो गया एक कहा चार और पांच की टिप्पणी पशु आदि भी यज्ञ पशु आदि सभी पशु एक यज्ञ पशु आदि को लेकर के मैंने यज्ञ किया था आदि ना आज्ञा आदि आदि से क्या लेना घी आदि जो तो अमित तो कभी ऐसा उसे प्रयोग किया हमने स्वर्ग तो सुख के लिए निर्वर्तित नहीं चयन विधि ना अनुष्ठित जैसे जिस प्रकार से उस अग्नि का चयन यज्ञ का संपादन हुआ था उस प्रकार से हमने संपादन किया मैंने कुछ वैराग्य की कमी रह गई मेरे पास ही कहना चाहते हैं यही होगा अच्छा तेरह इसलिए क्या हुआ अहम अधिकार हमको नित्यम या स्थान स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षित इसके कारण से क्या हुआ मैं अधिकार प्राप्त हो गया तो मैं बहुत बड़ा ये किया था नचिकेता आदमी करने से क्या हुआ मैं यहाँ का बहुत मालिक बन गया यमराज बन गया फल योजना उस टाइम के माध्यम से हम मैं अधिकार अधिकार प्राप्त हो गया मेरे लिए नित्यम याम्यम स्थान नित्य में आपेक्षिक नित्य है निरपेक्ष नित्यत्व का आत्मा ही होता है आपेक्षिक नित्य मैं भूमंडल की अपेक्षा ज्यादा दिन स्थायी है इसलिए नित्यम याम्यम स्थान स्वर्गाक्षम स्वर्गवाद में जो स्थान है नित्यम अपेक्षित नित्य शब्द का अपेक्षित नित्य है यहाँ प्राप्त वाला में प्राप्त कर गया ये कहा आगे मंत्र है ये स्थान कैसे स्थान है जिसको मैं तुमको फल के रूप में देना चाहता था मैं तो इतने बड़े एक एक करने के बाद मुझे मिला है मैं तुम्हें सीधा सीधा दे रहा था एक एक करने की आवश्यकता नहीं कुछ नहीं देना चाह रहा था फिर भी तुमने नहीं दिया तुम धन्यवाद के पात्र हो ये बोलना चाहते हैं काम से आतुम जगत प्रतिष्ठा प्रतोरहम अवयस्यताम ओम अहर प्रतिष्ठा साक्षी तो स्थान है मैं जो स्वर्ग स्वर्गादि भोग देना चाहता था वो स्वर्ग ऐसी चीज है स्वर्ग में यहाँ पर हिरण्य गर्भपद की प्राप्ति दिखाते हैं वो कैसा है कामना से आप वहां पहुंचते एक बार कोई कामना नहीं सारा कामना का विषय वहां मौजूद है जैसे समुद्र किसी को मिल जाए तो सारी नदियां मिल गई वैसा है वो संपूर्ण भूमंडल में सम्राट स्थान है वो वो मिलने पर सब मिल गया ये स्थिति जिसको एक चक्रवर्ती राजा बन गया हो उसके सभी राजा नीचे हो गए सारे धरती मिल गई वैसे ही वो स्थान ऐसा है वैसे स्थान को मैं वैसे ही दे रहा था तुम्हें उन तुमने त्याग दिया उस स्थान को भी धन्य हो गए मैं त्याग नहीं सका मैं जानता था कर्म का फल होता है फिर मैंने उसी के लिए एक किया मैंने चलो तुम त्याग तुमने त्याग दिया ये बोला चाह है काम से आपको संपूर्ण विषयों की प्राप्ति हो जाती है जहां पहुंचने का ऐसा स्थान है वो स्थान स्वर्ग की चर्चा किया है जगत का प्रतिष्ठा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है वो सारे संपूर्ण जगत उसी में प्रतिष्ठित है जैसे सौ रुपया में एक रुपया दो रुपया दस रुपया बीस रुपया सब प्रतिष्ठित है एक रुपया में सौ रुपया नहीं होगा सौ रुपया में सब होता है तो वो बड़ा स्थान है जिसमें सबके सब उसी में आश्रित है माने केंद्र सरकार जैसा है जितने भी प्रांत सरकार है केंद्र में आश्रित होना पड़ता है जगत प्रतिष्ठान संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है सारे जगत जिसमें आश्रित है ऐसा स्थान प्रकोर अनंतम यज्ञ का जो फलम अनंत फल है अनंत फल अंतर होने वाला फल में अपेक्षित आनंद है ऐसा फल अवैध कारण नीचे जब तक रहते हैं भय होता है क्यों थोड़ी संपत्ति मिली दूसरे वालों से भय बनता है वहां पहुंचने के बाद सबसे ऊपर हो गया तो भय नहीं है अवैध परम अवय का परम स्थान था जो मैं दे रहा था तुम्हें तो स्वर्गीय संपदा दे रहा था तो हम स्तुति के योग्य है हम लोग हम लोगों को जैसे कि वो मिल जाए प्रशंसा के योग्य है ऐसा स्थान तो हम महत्वगायम महान आदमी लोग है वो और उर्गायम विस्तृत है ये नहीं कि थोड़ा सा हो बहुत बड़ा है ऐसा उर्गायम प्रतिष्ठान दृष्टा ऐसे प्रतिष्ठा में सभी की जो स्थिति है ऐसे देखते भी सर्वोत्तम स्थिति हो सबसे उत्तम स्थिति हुआ पहुंचना उसको तुमको तुमने मैंने दिखा दिया मैं देना चाह रहा था किंतु देख करके तुमने क्या किया तृतीय अपने धैर्य के बल पर उसको तुमने क्या किया हीरो नचिकेत अति अति अस्त्राक्षी तुमने त्याग दिया उसको ठुकरा दिया नान्यम परम नचिकेता प्रणित देकर के तुमने त्याग दिया तुम धन्यवाद के पात्र हो इतने बड़े संपदा दे रहा था मैं जिसको तो तुमने मांगा उसके बदले में इतनी बड़ी संपदा जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है तुम धन्य हो तुमने त्याग दिया ठुकरा दिया नहीं चाहिए एक नंबर टिप्पण में टिप्पणीकार जाते हैं इसके दूसरी तरह से भी अर्थ किया जाता है माने ब्रह्म ज्ञान में भी घटाया जा सकता है ब्रह्म भाव में भी घटाया जा सकता है इस मंत्र को बोला जा रहा है अत्र यम अपरा योजना मंत्र का अर्थ तो जैसा है वैसे जो है सो है क्योंकि दूसरे प्रकार की योजना भी कर सकते हैं इस मंत्र की क्या कर सकते हैं स्वस्मते सर्वान कामान तैतीय परिषद में आया है स्वस्मते सर्वान कामान सह परमा विकसित है वो संपूर्ण कामना वो विषय को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मविद आपोति पर न्याय आरम्भ ब्रह्मविदता सारे विषयों को प्राप्त करता है माने सबसे बड़ा स्थान में पहुंचूंगा प्राप्त हो गई जैसा हो जाता है या फिर प्राप्त नहीं करेगा विषय को जाएगा तो स्वस्थ सर्वा कामा इत्यादि जो मंत्र में कहा है श्रुते इत्यादि श्रुति से काम से आदि ब्रह्म ज्ञान होने पर सब प्राप्त हो गए ये सिद्ध हो जाता है काम से आदि भी मुक्ति हम कामनाओं की पूर्ति मुक्ति में जब तक नहीं पहुंचेगा कामना होती रहेगी जहां पहुंचेंगे उसके ऊपर वाली की कामना होगी चिंता इच्छा बनी रहेगी किंतु मुक्ति जो एक समावस्था है जिसमें विषम की चर्चा है समावस्था है तो कामनाओं की सारे कामनाओं की प्राप्ति वही जाना पर है मुक्ति पद विशुद्धम ब्रह्म विवक्षित मुक्ति पद से कहा गया विशुद्ध ब्रह्म ही कामनाओं की प्राप्ति है ये भी अर्थ हो सकता है इसमें का जगत प्रतिष्ठान अधिष्ठान जगत की प्रतिष्ठा कहा तो क्या है अधिष्ठान है उसी में कल्पित ऐसा आ जाएगा ये जगत प्रतिष्ठान का अधिष्ठान हो जाएगा तदेव वही जो जगत प्रतिष्ठान है वही अंत्य बद्यते अंतिम फल वही अंतिम फल है रथो यज्ञादि कर्म हो यज्ञ परंतु यज्ञादि कर्म का जो फल वो नहीं होता है इसलिए कहा अनंतम का अनंत फल है वो मैं ऐसे एक एक फल है वो अनंत फल है बाकी एक एक फल तो अंत्य वाले हैं ये बोला चाहते हैं अवश्य कारण कहा सोम मह दुर्गा समय क्रम अवैध अवय का पद शाम को है स्तुति के योग्य भी है महान भी है स्त्रीण भी है विभु है सब घर जाता है ब्रह्म ब्रह्म तब ब्रह्मात्मा प्रतिष्ठा है उसे ब्रह्मरूप प्रतिष्ठा को देखकर के आत्मा अपनी प्रतिष्ठा ब्रह्म को समझ करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझकर क्या होता है तदात्मा अवस्थित संपाद्य निश्चित ही आवत उस रूप से अपने स्थिति को प्राप्त करता ये भी इस मंत्र का विकास हो सकता है दूसरे प्रकार से अपेक्षा अस्य द्राक्षे हे गति के दृष्टों को तब यद हम प्रार्थमान अस्मी अनित्यम एवं भवती अत्य श्राक्षी में समान हे गति के तुम अत्य श्राक्षी तब उस पद को तुमने ठुकरा दिया अहम प्रार्थमान अस्मी अनित्यम जिस अनित्य को मैंने प्राप्त किया हूं तुमने ठुकरा दिया तब अनित्यम इतव कर्म भविष्य यहाँ पर जो अनित्य शब्द था वही आप कर्म शब्द हो जाएगा पूर्व मंत्र जो अनित्य शब्द है वही आप कर्म बन जाएगा प्राप्तवान अस्मी तब अहम प्राप्तवान अस्मी अनित्यम एवं मैंने तो अंतिम प्रति प्राप्त किया ना ये होगा ये तो हम पूर्व वाक्य आप पढ़ते हैं स्थिति में क्या अनित्य प्राप्त किया अनित्य शब्द यहाँ आई है कहा है पूर्व वाक्य में जो पढ़ा गया था अनित्य उसको लाकर के सामने से करना कहा एवं पूर्व वाक्य हम पढ़ता पूर्व मंत्र पढ़ित नित्यम यदि परम अस्म एवं वाक्य ब्रह्म विशेषण पूर्व वाक्य में अनित्य पद भी है नित्य पद भी है नित्य पद को ब्रह्म का विशेषण बना है अनित्य को कर्म का फल बना है तत्र अनित्य में अस्तित्व में अनित्य वाले के संबंध कर देना और नित्य पद को ब्रह्म का विशेषण बना करके संबंध कर देना पूर्व मंत्र पर अनित्य शब्द भी है नित्य शब्द भी है दोनों का ऐसा कर देना एक भविष्य ध्रुवम माने ध्रुवा ध्रुवम शब्द नपुम शब्द है पुलिंग है या ध्रुवम कहा था या ध्रुवा बोल दिया शेव हरि मोक्ष और ध्रुव न प्राप्त थे अहम जानी सेवई मोक्ष जो है अभ्योग के द्वारा सेवई माने मोक्ष प्राप्त नहीं होता मैं जानता था इसका हम जाना भी मैं जानता हूं जब किया हम इस तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं ऐसा करके कहा आगे भाष्य देखिए तो मैं तो जानता हुआ भी फिर मैंने नचिकेता रखने का चयन किया स्वर्ग की लाड़ाई पूछ रहा मेरे लिए हाँ, मैं उसी में लगा किंतु तुम तो तुम्हारे लिए तो धन्य हो मैं जो कर्म करके प्राप्त किया इसको बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा इस पद को प्राप्त करने के बहुत पसीना बहाना पड़ा मेरे लिए क्योंकि मैं स्वतः दे रहा था कर्म के बिना ही फल रूप दे रहा था फिर कौन को काम से आत्म समाप्त जहां कामनाओं की सारी पूर्ति हो जाती है स्वर्ग जाने के बाद तो यहाँ की विषय की कौन इच्छा करेगा कामनाओं की प्राप्ति विषयों की प्राप्ति हो जाती है सारी की सारी जहां पहुंचने पर अत्र ही सर्वे कामना परिसमाप्त यही जाकर के सारी कामना समाप्त हो जाती है तो बड़े स्थान में पहुंचने के बाद छोटी चीज मिलेगा इच्छा ही नहीं होती है समुद्र पहुंचने के बाद सारी नदी मिल गई ऐसा हो जाता है एक समाप्त दोनों तब रही सर्वेशा लौक्यानंदा धन्यानंदा नाम का सूर्य थे उसी में तो तैतृ प्रतिशत होता है जितने आनंद की चर्चा हुई है वहीं जाकर के समाप्त हो जाए बेचारे सबसे बड़ा आनंद है वो तो हम स्तुत्यम स्तोम समझ करते प्रशंसनीय है वो ऐसा महत अनिवार्य ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगठन नहीं अच्छा प्रतिष्ठा जगता प्रतिष्ठा साध्या साध्य साध्यात्मा भूतदैव आते हैं प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मक वो जो हिरण पर की चर्चा कर रहे हैं वैसा है अध्यात्म अधिभूत अभिनयों के सहित सबके सब जगत की प्रतिष्ठा है तीनों के सहित अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव के सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मक अभिन्न रूप संपूर्ण सबका स्वरूप है सर्वरूप है प्रतो फलम यज्ञ का फल है बड़े बड़े यज्ञ असुविधा यज्ञ करने से मिलेगा प्रतो फलम फलम फल माने फल है फल है फल है फलम अनंतम है अनंत अनंत है आपेक्षिक आनंद रहेगा वहां टिप्पण है स्वादे सही वृद्धि अभाव शांत से अनंतम शब्द कैसा कहा होगा अनंत शब्द होता है तो क्षय करेगी तो आदि वृद्धि होगी अनंत बनना चाहिए मंत्र में अनंत तो ने अनंत लिखा हुआ है इसके टिप्पणीकार बोल रहे हैं भाषाकार ने अनंतम का था अनंतम कर दिया वृद्धि होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से क्षय प्रत्यांत तो भाई ये स्वार्थक ऐसे अनंत है आनंद है जो अनंत है उसी को आनंद कहा गया स्वार्थ में क्षय करने पर वृद्धि अभाव साहस वृद्धि होना था आनंद मना था कि मंत्र में नहीं किया गया ये छांदस का आनंद अच्छा अवय से तो पराधिष्ठान अवय का परम स्थान है परम काष्ठा है वो जहां जहां पर भय नहीं होगा सबसे बड़ा देवता बन गया कि अब किसको भय होगा स्थिति परामुषा है परम अवधिम का परम अवधि है वो उसके आगे कोई भय नहीं ऐसे स्थान है आगे भाष्य है स्तोम स्तुत्यम स्तोम सर्वदा स्तुति के एक प्रशंसन है प्रशंसनीय है ग्रहण कर्म पर महत अनिवार्य ऐश्वर्य अनेक गुणों से महान है अनिवार्य ऐश्वर्य अनेक गुणों से युक्त है अनिमा गरीबा लगिमा सबके सब है वहां जैसे चाहे वैसा हो जाता है ऐसी स्थिति अच्छा सोमच ब्रह्मच स्तुति के योग्य भी है और महान भी है अनाज या ऐश्वर्य से युक्त भी है निर्तिशय स्तोम निर्तिशय हमें सबसे बड़ा है इसे स्तोम भी हो गया मह भी हो गया स्तुति स्तुति के योग्य भी हो गया और अनादि ऐश्वर्य से संपन्न हो गया ऐसा स्थान है वो उर्गार मान विस्तृत तुम फैला उगाय हो ऐसे स्थान है उसको भी प्रतिष्ठा स्थितिम आत्मा स्थितिम हाँ, अपनी स्थिति जहां जहां पर तो अपनी स्थिति बन जाती है ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे वहां नहीं किया है यहाँ पर मैंने ये कर्मदाय समाज किया है मंत्र में नहीं किया है स्तोभम और भारतीय समाज ने अलग रखा हुआ है भाषिक ने को महत्व करके बनाया समाज बनाया उसका एक पद बना रहे हैं जो मंत्र है वहां प्रतिष्ठान में स्थिति में आत्मनो आत्मनो प्रतिष्ठान स्थिति अपनी स्थिति है वहां जाकर अपने स्थिति मिल जाती है ऐसे स्थान है वो आत्मा पांच नंबर स्थित है स्वच्छ नहीं किया था आत्मा ने दुआ तो है स्थिति मिली थी जो जो बदलाव में दे रहा था आत्मज्ञान के बदले में जो दे रहा था इतने बड़े स्थान था अनुत्तमान अभी न विद्यते उत्तम यश जिससे उत्तम कोई न हो उसमें अंतम था जिससे उत्तम स्थिति नहीं होती है सबसे बड़ा बड़ी स्थिति है हृदय का प्राप्त होना अनुतमाम अपनी दृष्टवा उसको तुमने मैंने दिखाया तुमको स्वर्ग की अवसराएं दिखाई ये दिखाई सब कुछ दिखाया दृष्टवा देखकर धैर्य धीरा हिमांसम नचकेत अतिश्राक्षी अपने धैर्य के द्वारा तुमने त्याग दिया उसको नहीं दिया अतिश्राक्षी परमेव आकांक्षा परम को चाहते पर ब्रह्म आत्मा को ही तुम चाहते थे उससे पर संसार से पर वाले तत्व को चाहते थे इसलिए तुमने क्या किया सर्वम तब संसार भोग जाता संपूर्ण संसार के भोग वर्ग तो तुमने त्याग दिया अहो बता अनुत्तम गुणोशी जितने भी उत्तम गुण वाले जितने होंगे वो उत्तम गुण हाँ। उनमें क्या है नवी देते उत्तम गुण इसमें उत्तम गुण वाले नहीं है जिससे बड़ा उत्तम गुण जिसने है उसको कहेंगे जाए अनुत्तम गुण ऐसा है तो धन्यवाद की बात हो उत्तम गुण वाले हो टिप्पणी छह की पांच छह की टिप्पणी छह में कहा तथापि अनित्यत्व दोष भावना अवस्थम इतने बड़े पद में भी तथा भी हैगर पड़े थी उस पद में भी अनित्यत्व दोष भावना अवस्था पर अनित्यत्व दोष भावना को विश्वास करके तुमने उसने सहारा लेकर तेरह अनात्म प्रयोजन चित्त बल धैर्य ऐसे चित्त में धैर्य लिया क्या है उन वस्तुओं के द्वारा आकर्षित न होना तुम्हारा चित्त चित्त में ऐसा बल आया है यही धैर्य तेरह धैर्य इत्यादि है इधर की प्रति परम परमे को परम परम होते रहो इत्यर्थ उसी आकांक्षा उसको चाहते हो तुमने इसको त्याग दिया इतने बड़े को त्याग दिया सर्वम एक संसार हो जाऊंगा तो संपूर्ण संसार की बहुत बड़ी मुक्ति आती है उनने उस मुक्ति को चाहना करके ये कहा हिरण्य का तो उपलक्षण करते हाँ सर्वम हिरण्य का पद को तो उपलक्षण करते सभी भोगों को त्याग दिया खाली हिरण्य का पद था इस लोग का भोग परलोक का भोग सब रख दिया था मैंने तुम्हारे सामने सबको तुमने त्याग दिया जो तो आत्मा को तो चाहने वाले को ऐसे होना चाहिए अहो पता और तम हो धन्यवाद के पात्र हो तुम आश्चर्य है तुम जितने उत्तम गुण वाले हैं न विद्यते उत्तम गुणों यशमा जिससे बड़े उत्तम गुण वाले दूसरे नहीं मिलेंगे सब तुम अनुत्तम गुण हाँ, ऐसा है उत्तम उत्तमा गुणा येषु के उत्तम गुणा हाँ, उत्तम गुण है जिन लोगों में अच्छे अच्छे गुण है जिन लोगों में वो एक तरफ रह गया न विद्यते उत्तम गुणों यशमा जिनसे जिससे अन्य उत्तम गुण किसी में न मिले उसको कहेंगे अनुत्तम गुण ऐसा है तो अंतर बलाय हो ऐसा कहा मंत्र है तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना वो हम छिपा हुआ है विषय की वासनाओं से हम घिरे हुए हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए ये भावना बनी रहती है आत्मज्ञान छिपा हुआ है दूर हम छिपा हुआ है विषयों के ज्ञान वैषयिक ज्ञान से छिपा हुआ है दूर है अनुप्रविष्टम विषय विज्ञान के द्वारा अच्छन्न है वो ढका हुआ है ज्ञान नहीं हो रहा वहां एकदम अगर आत्मा किसी को मिलेगा ये तीर्थाटन से नहीं मिलने वाला है कोई इधर उधर जाने से बुद्धि में मिल रहा है जैसे मैं मनुष्य हूं अभी मिल रहा है किसमें मिल रहा है बुद्धि में मैं मनुष्य हूं जैसा मिल रहा है बुद्धि में है वैसे कभी जब होगा तो हम ब्रह्मास्म बुद्धि में होना ये वृत्ति है वहां तो बुद्धि में निहित है अन्यत्र ढूंढने से नहीं मिलेगा अगर आत्मा को ढूंढना तो बेटा ढूंढना होगा बुद्धि में गुहा गुहा तो बुद्धि गुहा में आहित है ठीक है गौरव बहुत मैंने संकट में घिरा हुआ है इतने जहां पर आत्मा बैठा है या इतने काम क्रोध लोग वह मद मत न जाने क्या क्या है बैठे हुए हैं सब उसको रोक रहे उसको होने नहीं दे रहे बैठे नहीं दे रहे आत्मा का वृत्ति को बढ़ने नहीं देते गौहरे विषय स्थान स्तम स्थान बहुत विषम स्थान है बहुत मुश्किल से उसको लेना होगा गौवरेष्ठम विषम स्थान में स्थित है काम क्रोधादि अनर्थ के द्वारा गिरा हुआ है मुश्किल है पुराण पुरातन है सबसे पुराना है बाकी सब नया है ये शरीर तो अभी का है आत्मा पुराण पुरातन पुराणी नवा इति पुराण पुराना होने पर भी नया दिखता है पुराण को आप जितने बार सुनेंगे उतने बार नया लगता है एक ही वक्ता बोलता रहेगा पहली वाली कथा से आपकी कथा कुछ दूसरे ढंग हो जाती है इसलिए श्रोताओं को अच्छा लगता है आपकी बात और अच्छा बोल दिया ऐसा हो जाता है पुराण बहुत पुरातन है आत्मा ऐसा कहा अध्यात्म योगायु गमेरा अध्यात्म योग मन को विषयों से हटाना आत्मा में लगाना यह है अध्यात्म योग उसी अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा ही उसी के सहारा के द्वारा ही देवम मतवा उस देवता को जान करके उस आत्मदेव को पहचान करके क्या करेगा धीरा तो धीर को उसी पहचानेगा जब गौरविष्ट है कुमारित है बूढ़ा है अनुप्रविष्ट है आत्मा का सारे विशेषण लगाया हुआ है उस आत्मा को एक जानकर धीरे धीर पुरुष ही कर सकता है काम हर्ष शोक तो को जनाती आत्मज्ञान का फल क्या होगा किसी वस्तु से न हर्ष होगा शोक होगा क्या वस्तु से क्या हर्ष क्या शोक होना है सब वस्तु विद्या समझेगा उसका आदमी तो विद्या वस्तु न हर्ष पैदा करे न शोक पैदा करे ऐसी जब सत्य मानता है तो हर्षलोक के वशीभूत हो जाता है जब मिथ्या बुद्धि हो जाती है तो हर्षलोक के पार हो जाता है समय हो गया है आश्चर्य ओम सहनो सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति